और क्या उन्होंने देखा नहीं कि बिलाशुबा हम ज़मीन को उसके किनारों से कम करते चले आते हैं और अल्लाह ताला फैसले करता है और उसके फैसले पर नज़रसानी करने वाला कोई नहीं और वही बहुत जल्द हिसाब लेने वाला है